ए रसूल लोग तुमसे कयामत के बारे में पूछते हैं कि वो कब बर्पा होगी कह दो कि उसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है वही उसे अपने वक्त पर खोल कर दिखाएगा कोई और नहीं वह आसमानों और ज़मीन में बड़ी भारी चीज़ है जब आएगी तो तुम्हारे पास अचानक आ जाएगी ये लोग तुमसे इस तरह पूछते हैं जैसे तुमने उसकी पूरी तहकीक कर रखी है कह दो کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے